अनोशो टॉक ध्यान के कमल नंबर फोर जीवन में दुख भी है और सुख भी है क्योंकि जन्म भी है और मृत्यु भी है लेकिन इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि दोनों में से हम किसको चुनकर जीवन की बुनियाद बनाते हैं यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को चुनकर जीवन की बुनियाद रखे तो फिर जन्म भी केवल मृत्यु की शुरुआत मालूम पड़ेगी और अगर कोई जीवन को ही बुनियाद रखे तो फिर मृत्यु भी जीवन की परिपूर्णता और जीवन का अंतिम खिलावट मालूम पड़ेगी कोई व्यक्ति अगर दुख को ही जीवन का आधार चुन ले तो सुख भी केवल दुख में जाने का उपाय दिखाई पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति सुख को जीवन का आधार बना ले तो दुख भी केवल एक सुख से दूसरे सुख में परिवर्तन की कड़ी होगी ये निर्भर करता है चुनाव पर जीवन में दोनों हैं हम क्या चुनते हैं इससे पूरे जीवन की व्यवस्था बदल जाती है अशांति भी है जीवन में शांति भी हम क्या चुनते हैं इस पर सब निर्भर करेगा ध्यान अशांति को जीवन के आधार से हटाने की विधि और जीवन के आधार में मौन शांत चित्त को रखने की व्यवस्था है लेकिन हम अशांत होने में बहुत निष्णात हैं और हम कोई मौका नहीं चूकते अशांति का कोई मौका मिलता हो तो हम चूकते ही नहीं तत्पर हैं बहुत प्रतीक्षा में है कि कोई कारण मिले और हम अशांत हो जाएं आपको याद पड़ता है आपने जीवन में कोई अशांत होने का मौका खाली जाने दिया वो याद नहीं पड़ेगा किसी ने गाली दी हो और आप क्रोधित न हुए हो नहीं आप क्रोधित होने का कारण खोज ही लेंगे तत्काल अवसर आप हो नहीं सकते लेकिन कुछ अवसर खोना शुरू करें यदि ध्यान में आगे बढ़ना है तो कुछ अवसर खोना शुरू करें कोई गाली दे तो उस क्षण गाली पर ध्यान ना दें ध्यान दें इस बात पर कि क्या मैं इस अवसर को चूक सकता हूं और जो व्यक्ति अशांति के अवसर चूकता नहीं अशांत होता ही है नियमित रूप से वो व्यक्ति शांति के अवसर चूकता चला जाता है क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा है कि उसने अपनी पत्नी को लकड़ी उठा के मारा और जज उससे पूछता है कि मुन्ना ये लकड़ी तूने क्यों मारी तो उसने कहा दरवाजा खुला था पत्नी की मेरी तरफ पीठ थी लकड़ी बिल्कुल हाथ के पास थी मैंने सोचा आई शुड नॉट मिस दी अपॉर्चुनिटी ये अवसर चूकने जैसा नहीं पत्नी की पीठ थी दरवाजा खुला था लकड़ी बिल्कुल हाथ के पास सोचा आई मस्ट टेक ए चांस एक मौका मिला तो उपयोग कर अवसर को दो हिस्सों में ख्याल ले ले शांति के अवसर हैं अशांति के भी अवसर हैं अगर आप अशांति के अवसर नहीं चूकते तो शांति के चूकते चले जाएंगे क्योंकि आपके चित्र की बनावट चुनाव की हो जाती है आप अशांति को तत्काल चुन लेते हैं कोई आदमी अगर क्रोध से आपकी तरफ देखे तो आप कभी ऐसा नहीं सोचते कि उसका क्रोध झूठा रहा होगा लेकिन कोई मुस्कुराए तो जरूर सोचते हैं कि बनावट रही होगी बनावटी मुस्कुराहट होगी लेकिन क्रोध को आप कभी नहीं सोचते कि बनावटी रहा हो कोई आदमी आपके प्रति प्रेम प्रकट करे तो संदेह भी रहता है कि मन में पता नहीं क्या मतलब होगा लेकिन कोई क्रोध प्रकट करे तो कभी संदेह नहीं उठता कि क्या मतलब हो मतलब बिल्कुल साफ है यह हमारे चुनाव की वृत्ति है कोई अगर किसी के संबंध में आपसे कहे कि बहुत भला आदमी है तो आप समझते हैं कि ये हो नहीं सकता लेकिन कोई कहे फला आदमी बहुत बुरा है तो पक्का निश्चय हो जाता है कि बुरा होना ही चाहिए अगर कोई आदमी आपसे कहे कि फला आदमी भला है तो पहले आप इस आदमी के बाबत सोचते हैं कि कहने वाला खुद तो खुद तो इस हालत में है कि ये क्या भले को पहचानेगा लेकिन अगर वही आदमी आपसे आके कहे कि फला आदमी बुरा है तो फिर आप कभी नहीं पूछते कि ये आदमी खुद तो बुरा नहीं हमारे चुनाव हैं बुरे को गलत को हम बड़ी शीघ्रता से चुनते हैं सेंसिटिव एकदम पकड़ लेते हैं इसको बदले अगर ध्यान में गहरे जाना है तो 24 घंटे इसका स्मरण रखें कि अशांत होने के मौके चूके शांत होने के मौके पकड़े जब भी मौका मिल जाए शांत होने का क्षण भर को तो शांत हो और जब भी मौका मिले अशांत होने का तो कृपा करें अपने पर चूक जाए थोड़े ही दिन में आपके चुनाव का रुख बदल जाएगा और तब आप बहुत हैरान होंगे कि आपका जो दुख था आज तक का वो आपकी ही चॉइस थी आपका ही चुनाव था ये जगत किसी को दुख देने को उत्सुक नहीं है इस जगत ने किसी के लिए नर्क और किसी के लिए स्वर्ग बना के नहीं रखे प्रकृति का कोई पक्षपात नहीं है प्रकृति बहुत अनप्रजुलिस्ट है वो कोई फिक्र नहीं करती कि आप कौन हैं लेकिन आप ही नरक को चुनते हैं और बड़े मजे की बात है कि नरक पर लोग बड़ा भरोसा करते हैं स्वर्ग पर भरोसा करने वाला आदमी मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे भी लोग हैं जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते लेकिन शैतान पर भरोसा करते ऐसे भी लोग हैं जिनको शक हो सकता है कि स्वर्ग है या नहीं लेकिन नर्क में किसी को शक नहीं है मुला नसरुद्दीन की लड़की अपने बाप से पूछती है कि मैं जिस युवक को प्रेम करती हूं उससे विवाह करूं या न करूं क्योंकि वो धार्मिक नहीं है और उसे स्वर्ग और नर्क में बिल्कुल ही भरोसा नहीं मुल्ला ने कहा स्वर्ग के बाबत तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन तू शादी कर और शादी करके तू सिद्ध कर देगी कि नर्क है तेरी मां ने मेरे लिए सिद्ध कर दिया तू उसके लिए स्वर्ग के बाबत में कुछ नहीं कह सकता अपना कोई अनुभव नहीं विश्वास भी नहीं लेकिन एक मामले में तू उसे निश्चय करा सकती है कि नर्क है स्वर्ग भरोसे में नहीं आता बिलीवेबल नहीं है विश्वास योग्य नहीं नर्क बिल्कुल भरोसे ना लेकिन ये भरोसा हमारा खबर देता है हमारे संबंध में नर्क के संबंध में नहीं ये बताता है कि हम नर्क को मानने को उत्सुक और तैयार हैं स्वर्ग को मानने की हमारी तैयारी नहीं क्योंकि हमने जीवन में स्वर्ग कभी चुना ही नहीं तो ध्यान की यात्रा पर निकलने वाले लोगों को ये स्मरण रहे कि ध्यान अकेला काफी नहीं है आपके चित्त के चुनाव के ढंग बदलने चाहिए शुभ को देखने की कोशिश करें सुंदर को देखने की कोशिश करें असुंदर को उपेक्षा दें कुरूप को ध्यान मत दें अंधेरे को चुनने की जरूरत क्या है आपके लायक प्रकाश जगत में काफी है अंधेरा है जरूर लेकिन आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं अंधेरे में आपके खड़े होने के लिए प्रकाश काफी है और कोई व्यक्ति चाहे तो पूरे जीवन को प्रकाश में बिता सकता है लेकिन हमारा चुनाव ऐसा है कि प्रकाश और अंधेरा हो तो हम अंधेरे में जाके खड़े हो जाएंगे और अंधेरे में खड़े होकर हम चिल्लाते रहेंगे कि अंधेरा ही अंधेरा है दुख ही दुख है यहां कोई सुख की किरण भी नहीं ध्यान रहे आनंद को उपलब्ध होना हो तो आपके चुनाव का ढंग बिल्कुल ही बदल जाना चाहिए और आपके हाथ में सुबह उठते हैं तब से है एक जैन फकीर हुआ बोकोजू उसके पास जापान का सम्राट मिलने आया जापान के सम्राट ने उससे पूछा कि क्या नर्क है बोकुजू ने नर्क के संबंध में तो कोई उत्तर न दिया नीचे से ऊपर तक सम्राट को देखा वो सजा बजा था एक सैनिक की वेशभूषा में बोकोजू ने कहा कि जब भी मैं किसी को सैनिक की वेशभूषा में देखता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि भीतर एक का आदमी छिपा सम्राट का रुख एकदम बदल गया आया था श्रद्धा से भरा हुआ एकदम अश्रद्धा हो गया और बोकोजू ने कहा कि तुम्हारी शक्ल सम्राट जैसी बिल्कुल नहीं लगती शक्ल तो तुम्हारी कुछ ऐसी लगती है कि जैसे कोई नाटक में किसी को सम्राट बना दिया तो उसके हाथ तलवार की मूठ पे चला गया सम्राट और बोकुजू ने कहा कि मुझे डराने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं अगर जोर से चिल्ला भी दूं तो तुम भाग खड़े हो हद तो हो गई हद हो गई वो आया था कुछ पूछने और ये आदमी क्या बातें कर रहा है उसने तलवार निकाल के बोकू के गर्दन पर रख दी बोकू ने कहा कि देखो तुम नरक का दरवाजा खोल रहे हो नरक है और ये तुम दरवाजा खोल ये मैंने सिर्फ तीन बातें तुमसे इसलिए कही ताकि तुम्हें दरवाजे पर ही पहुंचा के बता दूं कि ये रहा नरक अब बस जरा ही सा खोलो कि गए अंदर अब तुम्हारी मर्जी चाहो तो लौट जाओ चाहो तो प्रवेश कर जाओ आपका ही चुनाव आपको नरक के दरवाजे पर रोज ले आता है चुनाव महत्वपूर्ण है सुख दुख उतने महत्वपूर्ण नहीं है सुख दुख साधारण घटनाएं चुनाव आपका भीतर महत्वपूर्ण तो ध्यान के लिए इस सूत्र को स्मरण रखें जब मतलब ध्यान के संबंध में मैं दो तीन बातें और आपसे कर दूं और फिर हम ध्यान के प्रयोग में जाए शायद कुछ नए लोग आ गए हों पंद्रह मिनट कीर्तन चलेगा उस कीर्तन में जितने भावमुग्ध हो सके उतना ही गहरा जा सके उस कीर्तन में जितने पागल हो सके उतनी ही गति उस कीर्तन में जितने बह जाएं उतनी ही सरलता हो जाएगी जो लोग देखने को आ गए हों वो कुर्सियों पर बैठ जाएंगे वो यहां अंदर नहीं होंगे कोई भी व्यक्ति जो देखने आ गया हो वो कुर्सियों पर चला जाए जो करने आया हो वो कुर्सियां छोड़कर कंपाउंड में आ जाए जो करने आया हो वो कुर्सी पर ना बैठा रहे क्योंकि मैं देखता हूं कुछ लोग कुर्सी पर बैठ के करते हैं वो कुर्सी काफी बाधा बन जाता है बाहर की कुर्सियां तो बाधा बनती हैं भीतर भी कुर्सियां हैं वो भी बाधा बनती आप में भी कई लोग जमीन पर बैठे हैं लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं बैठ पाए वो वहां भी बैठे लेकिन उनकी कुर्सी पीछे पकड़ी हुई वो जानते हैं मैं मजिस्ट्रेट हूं मैं कैसे नाच सकता हूं अब नाच का मजिस्ट्रेट से क्या लेना देना मजिस्ट्रेट नाच सकता है नाच का कोई विरोध नहीं नाचने वाला मजिस्ट्रेट हो सकता है कोई कंट्रडिक्शन नहीं है कहीं कि मेरे पास दस लाख रुपए हैं तो मैं कैसे नाच सकता हूं दस लाख रुपए हैं और नहीं नाच सकते तो फिर कब नाचेंगे आदमी रुपए कमाता इसलिए है कि किसी दिन नाच सके लेकिन गधेपन का कोई अंत नहीं रुपए इकट्ठे हो जाते हैं नाचना भूल जाता है तो वो कहता मेरे पास इतने रुपए में कैसे नाचू तो रुपए किस लिए इकट्ठे किए थे इसलिए कि किसी दिन वो क्षण आ जाएगा कि कोई रोक टोक नहीं रहेगी मन मुक्त होगा नाच सकें अब नाचने का वक्त आ गया तो रुपए छाती पर रख के बैठे हैं कि वो वजन ज्यादा है नाची कैसे तो, तो जो ऐसे यहां बिना कुर्सी के भी कुर्सी पे बैठे हों वो कुर्सियों पे चले जाएं कुर्सियों पे कोई भूल से बैठ गए हों और नाच सकते हों वो नीचे आ जाएं देखने वाले सब कुर्सियों पर होंगे नीचे कोई नहीं होगा एक भी आदमी बीच में बाधा बन जाता उससे ताल टूट जाता जैसे ही पंद्रह मिनट में आप गहरे मौन में प्रवेश करते हैं और कीर्तन में ये इतने लोग अलग अलग नहीं रह जाते एक धारा हो जाती एक रिदम एक गति हो जाती उस गति में सब संयुक्त हो जाते उसमें एक भी व्यक्ति बेईमानी से बीच में खड़ा रहे तो वो रिदम को तोड़ता है गति को तोड़ता है तो अपने साथ आप कुछ भी करें कृपा कर दूसरों को नुकसान न पहुंचे इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए तो वहां से हट जाए और दूर दूर फैल के खड़े होना है पास पास खड़े होना धोखा देना है वो नाच से बचने की तरकीब है आप दूर दूर फैल जाएं ताकि मुक्त मन से नाच सके दूसरी बात पंद्रह मिनट तक कीर्तन फिर पंद्रह मिनट तक मुक्त भाव कीर्तन बंद हो जाएगा धुन चलती रहेगी फिर धुन के साथ बढ़ते चले जाएंगे तीस मिनट के बाद मैं आपको माथे को रगड़ने को कहूंगा कुछ प्रश्न उस संबंध में आए हैं एक तो ये कि अगर दाएं हाथ से रगड़ने में तकलीफ हो अगर ऐसा तकलीफ हो तो बाएं से रगड़ सकते हैं कोई ऐसी अड़चन नहीं है बाएं से रगड़ सकते हैं अगर दाएं हाथ से किसी को रगड़ने में तकलीफ होती हो तो बाएं से रगड़ सकते हैं दूसरी बात अगर किसी को ऐसा लगता हो कि बहुत जोर से रगड़ने से अड़चन होती है तो इतने जोर से नहीं रगड़ना है कि घाव बन जाए या चमड़ी छिल जाए इतने जोर से नहीं रगड़ना है आप अपना अपना हिसाब कर लें क्योंकि सबकी अपनी अपनी चमड़ी की मोटाई आप अपना हिसाब कर लें कि कितना रगड़ना है फिर रगड़ने की भी अपनी अपनी ताकत वो आप अपना तय कर लें चमड़ी न छिल जाए इतना ध्यान रखें और किसी मित्र ने पूछा है कि आधा मिनट में ही प्रक्रिया शुरू हो जाती तो क्या मिनट तक जारी रखना है प्रक्रिया शुरू हो जाए जब आपको लगे कि भीतर का द्वार खुलना शुरू हुआ तो छोड़ सकते हैं कोई एक मिनट जरूरी नहीं है एक मिनट सिर्फ इसलिए कि सबकी प्रक्रिया शुरू हो जाए किसी को अगर मिनट में भी ऐसा लगे कि अभी कुछ अधूरा है तो वो दो मिनट तक जारी रख सकता है ये मिनट तो हम सबके लिए उपयोग कर रहे हैं किसी को ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है और मिनट समाप्त हो गया तो वो और एक मिनट जारी रख सकता है उसमें कोई बाधा नहीं है वो आप पर निर्भर है फिर गहरे मौन में तीसरा चरण हम बिताएंगे उस क्षण जो भी अनुभव हो उन्हें बड़े आनंद से देखते रहे साक्षी बने रहे अंत में फिर एक मिनट के लिए माथे को रगड़ना है फिर दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा के आंख खोल देनी है आकाश आपकी आंख में झांक सके आप आकाश में झांक सके तो एक गहरा मिलन एक कम्युनियन घटित होता है और फिर परमात्मा को धन्यवाद देना है जब आप हाथ उठा के आकाश में झांकेंगे उस वक्त जो भी हृदय में तरंग आनंद की आ जाए उसे खुले मन से प्रकट करना पूरे आनंद से प्रकट करना है किसी का उस वक्त हंसने का मन हो आनंद के आंसू बह जाएं, डोलने का मन हो नाचने का मन हो उस क्षण जो भी हो एक दो तीन मिनट के लिए पूरे मुक्त भाव से अपनी अभिव्यक्ति कर लेनी फिर धन्यवाद देकर जो लोग भी देखने को हों वो अब हट जाए और जो लोग करने को हों वो दूर दूर फैल जाए कुछ को ऊपर तो नहीं आना कुछ लोगों को ऊपर तो नहीं आना नहीं जरूरत अच्छा नहीं जमता ना ऊपर चुप हो जाए आंख बंद कर लें दाया हाथ माथे पर रखें दोनों आंखों के बीच और दोनों तरफ ऊपर नीचे रगड़े भीतर कोई द्वार खुलना शुरू हो जाए रगड़ते ही भीतर बहुत प्रकाश करना शुरू हो रहा रवि और राइट एंड पाम on the forehead. हाथ रगड़ते ही भीतर अनेक अनुभव उठने शुरू हो जाएंगे <laughs> rub your right hand palm on the forehead sideways up and down many experiences will begin to happen rub it

प्रकाश प्रकार प्रकाश प्रकाश ही प्रकार के सागर में खो गए तन मन का रोण रोण प्रकाश से भर जाए प्रकाश की श्रेष्ठ रहता है लाइट मोर लाइट इंफिनिट लाइट ओनली लाइट रिलेटेड प्रकाश फैल गया अनंत प्रकाश फैल गया अनुभव करें और इस प्रकार के साथ एक हो अनुभव करें और इस प्रकाश के साथ एक हो बी वन विद फ्लाइट बी वन विद फ्लाइट फील द लाइफ इन बी वन विद यू 深く深く声を深くこっちへ進むとはちょっと待って。 आनंद की छाया आने लगती है आनंद की धारा आने लगती प्रकाश के साथ ही साथ आ जाता है आनंद आनंद से भर जाए आनंद से भर जाए आनंद के साथ एक और follows neither the shadow. Now be blissful, be filled with it, be one with it. Feel the bliss, आनंद को अनुभव करें आनंद से भर जाए आनंद से एक हो समस्त तंत्रांग आनंद से आंदोलित हो उठा है समस्त अस्तित्व आनंद से आंदोलित हो उठा है आनंद से भर जाए एक हो जाए Feel the bliss. The whole existence has become bliss. Feel it, be filled with it, be one with it. के पीछे पीछे ही परमात्मा की उपस्थिति प्रतीत होने लगती है वही मौजूद है चारों वही घेरे हुए है बाहर भीतर वही है आती श्वास में वही जाती श्वास में वही अनुभव करें उसकी उपस्थिति से बच जाए experience of bliss is followed by divine presence. Now feel the divine all around, inside, outside. Now feel the presence, deepen with it, be one with it. प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें वही चारों ओर मौजूद है वही घेरे हुए है वही है जन्म वही है मृत्यु केवल प्रभु ही है अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें इस परम अनुभव के क्षण में जैसे कोई अपने वस्तुओं को निकाल कर बाहर हो जाए जैसे कोई अपने घर से निकले और बाहर हो जाए एक छलांग में एक झटके से शरीर के बाहर हो जाए इस समय बाहर हो सकते हैं और अपने शरीर को लौट कर देखे हैं पीछे मुर्गे की भांति पड़ा है ना टेक ए जंक दिस इज द मोमेंट एंड द जंक कैन बी टेकन बी आउट ऑफ योर बॉडी Just take a jump and be out of your body, then look back. The body is lying dead. And once you have known that the body is separate from you, you will never forget. जान ले एक बार कि शरीर अलग है शरीर अलग है मुझसे और शरीर कभी नहीं भूला जाता एक झटके में हिम्मत करें शरीर को छोड़ के बाहर खड़े हो जाएं ये क्षण है जरा का साहस और बाहर हो सकते हैं और अपने शरीर को देखें बैठा हुआ पड़ा हुआ खड़ा हुआ मुर्दे की भांति और आप अलग हो गए शरीर से स्वयं को अलग जान लेना ही ज्ञान है शरीर से स्वयं को अलग जान लेना ही परमात्मा से स्वयं को एक जान लेना ही टू नो दट द बॉडी इज सेपरेट इज द सुप्रीम नॉलेज एंड टू नो दट द बॉडी इज सेपरेट इज टू नो दट यू आर वन विद द डिवाइन एक छलांग झटके से बाहर हो जाए सोचे नहीं झटके से बाहर हो जाए और लौट कर देखिए शरीर मुर्दे की भांति पड़ा चारों ओर परमात्मा मौजूद है और हम उसके सागर में खो गए जैसे भूमि सागर में खो गए जैसे महासूर्य के प्रकाश में कोई छोटा सा दिया जलाया और उसकी ज्योति सूर्य के प्रकाश में खो जाए ऐसे ही हम उसकी मौजूदगी में खो गए जैसे हमारी सांस निकलती है शरीर के बाहर और अनंत आकाश में खो जाती है ऐसा ही हम निकले स्वयं के बाहर और अनंत परमात्मा में खो गए प्रकाश ही प्रकाश है आनंद ही आनंद है और चारों ओर परमात्मा मौजूद है अब दोनों हाथ ऊपर उठा लें आंखें ऊपर उठा लें आंखें खोलें आकाश को देखें और आकाश को आपकी आंखों में झांकने दें नाव रेज बोथ हैंड towards the sky. Open your eyes, look into the sky, and let the sky look into you. और जो भी आनंद की लहर भीतर आती हो उसे प्रकट करें जो भी आनंद का भाव उठता है उसे समग्र रूप से प्रकट करें ना एक्सप्रेस योर विलेज ना एक्सप्रेस योर एक्सप्रेसी हंसना हो रोना हो चिल्लाना हो आनंद में नाचना हो जो भी भाव आ जाए उसे उसे प्रकट कर दें भी भाव हो उसे फैल जाने दें एक्सप्रेस योर हंसे नाचे चिल्लाएं रोए जो भी भाव आता हो उसे पूरी शक्ति दे दें और कवर करें में उसके Now put your both hands in the बोल pose पुट योर हैड head into his और हृदय के रोए रोए को कहने दें धड़कन धड़कन को प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है Thy grace is infinite, thy grace is infinite, thy grace is infinite. दो चार गहरी सांस ले लें और ध्यान से वापस लौट आए हमारी सुबह की बैठक पूरी हो गई दो चार गहरी सांस ले लें और ध्यान से वापस लौट आए हमारी सुबह की बैठक पूरी हो गई